प्रहलाद को लेकर के फिर हिरण्य कश्यप के पास लाए वो क्षण अमर वो प्रहलाद अपने पिता के चरणों में गिर गया पादयो पतितम बालम प्रतिनिंद आशीर्वाद दिया था बेटा तेरी बड़ी आयु प्रतिनंदा शशस्व हिरण्य कश्यप तो बड़ा तपस्वी है उसका आशीर्वाद व्यर्थ थोड़ी है परिश्रज्य दोनों हाथों से उठा करके हृदय से लगाया बहुत दूर तक छाती से लगाया चिरम दूर्घ्याम परमात्म नृत्य प्रहलाद का स्पर्श आकर के बड़ा आनंद आया उसमें प्रहलाद तो भगवान के भक्त है ना परमामा में परमानंद की प्राप्ति आनंद में मग्न हो गया हिरण्य कृष्ण और फिर अपनी गोद में बिठा करके प्रहलाद का मस्तक सूंगा और जो है बात्सल्य प्रेम से तब तक आंसू प्रहलाद के ऊपर गिरने लगे उसका हृदय द्रवीभूत हो गया हिरण्य कशु का और प्रहलाद आसिंचन विकसत वक्तम प्रहलाद मुस्कुरा रहे थे प्रहलाद के वस्त्र भीग गए पिता के आंसुओं से हिरण्य कशु बोले बेटा अब बताओ रागानुचिताम का था सभी तन किंचित अब बेटा तुमने जो अपने गुरु जी से पढ़ा है बताओ तो सही हम्म, काले नेता बताओ इसमें जो तुमको याद हो जो तुमने ठीक पढ़ा हो बताओ प्रहलाद जी का गुरु अपना गुरु नहीं मानते बोलो पिताजी बताओ मैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पादसेवनम् अर्चनं वंदनम दास्यम सङ्ख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिताविष्णौ भक्तिश्चैन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यर्था हनुमे धीतमुत्तम भगवान विष्णु के नामों का कीर्ति करना उनकी मंगलमयी कथाओं को कानों से सुनना चित्त से उनके मंगलमय स्वरूप का ध्यान करना उनके चरणों की सेवा करना उनका पूजन करना उनकी स्तुति करना दास भाव रखना सत्य भाव मानना और सर्वस्व उनके चरणों में निवेदन करना ये नौ प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति भी प्राणी के हृदय में आ जाए तो मैं इसी को उत्तम पढ़ना लिखना समझता हूं तन ने गीत मुक्तम नौ प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति भी जिसके हृदय में आ जाए तो पिताजी ने उसको ही उत्तम अध्ययन समझता विषम में ही तक सुख देखे ग्रहण कस्तु ने जब प्रहलाद के इन भक्तियों को सुना उसके होठ कांपने लगे और संडामा के जो खड़े थे उनकी ओर लेकर नीच ब्राह्मण तुम हमारे विपक्ष से मिल गए अरे असार ग्राह तो डालो जिन बातों में कोई सार नहीं है वो ऐसी बातें हम लोग हमारे बच्चे को बंद कराइए तुमने मेरी उपेक्षा करके संसार में भूतों की कमी नहीं है संत या साधकों में असाधु बहुत है दुष्ट बहुत है मित्र के बीच में शत्रु का काम करें ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है पर एक दिन उनकी कलई खुल जाती है पेशा उदित कदम काले रोगा पाप के नाम लो जैसे पापियों का के पाप की कलई खुल जाती है रोग जब उदय होता है तो बड़ा धमकाया उनको अरे तुमने हमारे विपक्षियों से देवताओं से मिल गए हमारे बच्चों को ऐसी बातें सिखाई है तुमने परंतु देखो जो मित्र के विष में मित्र का विष बना करके शत्रु का काम करते हैं तो उनकी बात उनकी कलई एक दिन खुल जाती है उसके लिए उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है रोगा के नाम वो पापियों का पापकियों का जो रोग उसके पापों को जैसे प्रकट कर देता इसका क्या तात्पर्य है ब्रह्मा क्षय रोगी श्याम जैसे किसी को टीवी हो जाए क्षय रोग किसी को हो जाए तो समझ लो उसने पहले कोई ब्राह्मण की हत्या की इसको क्षय रोग शैडो घोष प्रकट होकर के बता रहा है कि पहले ब्राह्मण की हत्या की है इसने ब्रह्मा रोगी सर सुरापो श्यारद सुराप श्यारद अंतर जिसके मसूरे काले हों उसको समझो कि पहले जन्म में शराबी रहा है शराब पिए स्वर्ण स्टेयुत कुनखी जिसके कोढ़ हो नाखून हाथों में जिसके कोण हो जाए तो समझो ये पहले जन्म में इसने सुवर्ण की चोरी की तो जैसे शरीर में रोग प्रकट होकर के पहले जन्म के पापों को खोल देता है ना जानने वाले जान जाएंगे इसने अमुक पाप से इसको अमुक रोग होता है तो शरीर में रोग प्रकट होकर के जैसे पहले पापों को बताया देता है ऐसे मित्र का विष बना करके जो शत्रु का काम करते हैं एक दिन उनकी बात खुल जाती है तो संडा मर कर गए और कहे राजन आप क्रोध को अपने बस में कीजिए क्रोध के बस में मत हो न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते शतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकी अनुमतिरस्य राजन तुम हम पर दोष न इस बच्चे को न हमने सिखाया है न किसी दूसरे ने इसकी तो ये स्वाभाविक बुद्धि है जो वो बोल रहा जब ये बात कही तो रैण कशपू ने कहा रे प्रहलाद न चेत गुरुमुखी हम अगर ये गुरु जी ने नहीं पढ़ाई तो बताओ ये तुम तो किसने बताएंगे ये बात प्रहलाद बोले पिताजी ये बुद्धि मकर न कृष्ण परता हुआ न तो ये दूसरे के सिखाने से ये बुद्धि प्राप्त होती है न अपने आप आती है मिथो भी तो ग्रह व्रताना जो ग्रह व्रत है ना ग्रहवृत्तों का तो क्या अर्थ है कि हम तो घर में ही मरेंगे बाहर नहीं जाएंगे घर में ही रहने का जिनका निश्चय है कि हम बाहर नहीं निकलेंगे उनको कहते हैं ग्रह व्रत तो जो घर गृहस्थी में जुटे हुए हैं अदांत गोग्र इंद्रिया जिनकी बस में नहीं है तो जो भोगे हुए विषयों को बार बार भोगते रहते हैं पशुओं के समान उन लोगों को ये बुद्धि न दूसरे के कहने से प्राप्त होती है न अपने आप मिलती है पुनः वित चरबणा नाम जैसे पशु एक बार चबा लेता फिर उसको दोबारा चबाता रहता ऐसे भोगे हुए विषयों को ये भोगते रहते हैं जो व्रत होते हैं गर्भग्रस्तों में जिनकी आसक्ति होती है उनको ये बुद्धि पिताजी प्राप्त नहीं होती नते विधि स्वास्थ्य गतिम विष्णु वो भगवान परात्मा परमात्मा को नहीं पहचान सकते जो बहेड़ा मानना जो बहिर्मुख हैं उनको ही अपना गुरु मानते हैं बस जैसे ही वो तैसे ही वो अंधा यमाना अरे अंधे के पीछे चलने वाला अंधा कहीं लक्ष्य पर पहुंचे हाँ? तो ऐसे ही स्वयं विषयासक्त होते हैं स्वयं ग्रहप्रत होते हैं और उनके ऐसे ही व्यक्तियों को अपना गुरु बना लेते हैं तो फिर कहां वो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे वो ये बुद्धि उनको कहां प्राप्त होगी मही यशाम जो अभिषेकम निष्किंचनाम न वृणी कयावत जब तक महापुरुषों की चरण रज को मस्तक पर धारण नहीं करता तब तक पिताजी ये बुद्धि नहीं आती ऐसा कहकर के प्रहलाद जी चुप हो हिरण्यकशु ओ उसने तत्काल क्रोध में आकर के प्रहलाद को गोद में जो बैठा था आंसू प्रेम के टप टप गिर रहे थे क्रोध आते ही बात बदल गई प्रहलाद को उठा करके वो पृथ्वी पर पटक दी और कहा लाल लाल ने का बद्यो बद्योयम निस्तार है नहीं दिए देता इसको किसी भी उपाय से इसको शीघ्र मार डालो दूसरे का बालक ही अपना और अनुकूल हो तो उसे अपना ही समझना चाहिए ये हिरण्य कष्टों का वचन है बढ़िया बात होनी चाहिए कृत कृत यथौषधम वो अपने घर में पैदा नहीं हुआ अपना बालक नहीं है वह दूसरे का बालक बस अपने अनुकूल है अपना सेवक है अरे तो उसे अपना ही समझ समझ लो क्यों हितकृत वो तुम्हारा सेवा कर रहा है तुम्हारा हित कर रहा है परोप्य हितकृत यथौषधम जैसे औषधि तुम्हारे घर में थोड़ी पैदा होती है होती तो जंगल में पैदा है पर जब तुम्हारा हित करती है अनुकूल होती है तो जंगल में से भी औषधि को ला करके सीसी में भर के रख लेती है और स्वदेह जो भी और अपने शरीर से भी उत्पन्न होने वाले को तुम चेरवा देते हो घोड़ा भी तो अपने शरीर से होता है हम्म। छिंद्या तदंगम यदात्मोदितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जना इसलिए ये मत देखो कि हमारा पुत्र है ये तुम्हारा विरोधी है मार किसी उपाय से मार डालो बस वो तो ऐसे व्यक्तियों को सौंप दिया प्रहलाद को जो फांसी लगाने वाले थे फांसी लगाने पर भी तो लोग रहते हैं उनको दया नहीं होती वो हाथ में शस्त्र लेकर के टूट पड़े छिंदी बिंदी अरे मारो मारो ऐसा शूलई सर्वमर मसूद जगनू सूल लेकर के तलवार लेकर के प्रहलाद को मारने प्रहलाद जी एकदम नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया भक्त की ऐसी रक्षा की कि वो बड़े बड़े तीक्ष्ण शस्त्र भी प्रहलाद की त्वचा को भी नहीं काट सके वो सब प्रयास उनके व्यर्थ हो गए सर्पों से कटवाया विष दिया हम्म। अनेक उपाय उनके मारने के लिए किए बर्फ में नीचे दलवाया अग्नि में अग्नि की बात तो प्रसिद्ध ही है होलिका उसने कहा होलिका ने कहा रे भैया तू मेरे को बर प्राप्त है मेरे पे पास ऐसी चंदन है दी हुई देवताओं की मैं उससे तो ओढ़ लूंगी तो मैं तो नहीं जलूंगी और इसे प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी ये जल जाएगा ले तो क्यों चिंता करता बस बड़ी बारी लकड़ी इकट्ठी करके उसमें प्रहलाद को लेकर के वो जो होलिका थी ना उसकी गोद में प्रहलाद को रख दिया आग लगाए आग लगाई तो बात उल्टी हो गई वायु चली तो वो जो है उसकी चद्दर तो प्रहलाद पे आ गई और वो वो जल गई प्रहलाद पे बोलिए श्री कृष्ण बड़े उपाय किए मारने के प्रहलाद ने तदा दीर्घ चिंता हम प्राप्त अब तो हरण कृष्ण को बड़ी चिंता होने लगी होने की हमने तपस्या तो हमने की अमर होने के लिए अतो हमारा किम ये अमर अमर हो गया ये अतो अमर किम क्या इसी के विरोध से मेरी मृत्यु होनी है क्या ये सोचने लगा ठंडा मात्र ने कही कि राजन तुम क्यों चिंता कर आपकी जितम त्वयिकेन जगत त्रयम आपने तीनों लोगों को बस में कर रखा है जब थोड़ी भुएं आपकी टेढ़ी देखते हैं तो देवता घबराने लगते हैं तो आपको चिंता करने की क्या बात है बच्चों के गुण और दोषों पर माता पिता दृष्टि नहीं डालते अवस्था पाकर के जब ये बड़ा होगा तो अपने आप बुद्धि इसकी बदल जाएगी हमारे पिता शुक्राचार्य आने वाले हैं उनके संग से इसकी बुद्धि बदल जाएगी और तो फिर हिरण्य कश्यप ने कहा अच्छा इसको ले जाओ और वहीं विद्यालय में रखो और इसको जो है गृहस्थियों के धर्मों का उपदेश करो आप ले आए और धर्मायस्वोपदिष्टव्या राज्ञाम ये गृह में दिनाम राजाओं के धर्म गृहस्थियों के उनका उपदेश करो धर्मम अर्थम च कामम च नतराम चाणपूर्व यथा प्रवर्गम गुरु भी आत्मने उपशिक्षित न साधु का मेरे तत्शिक्षा गंगारामुपवर्णता और प्रहलाद जी को वो धर्म अर्थ काम शास्त्र पढ़ाने लगे एक दिन उन लोगों को कुछ कार्य था आचार्य लोगों को जब दो घंटे का अवकाश करके उन्होंने बच्चों को बुलाया कि आपस में लड़ना झगड़ना मत और इसी तरह शांति बनाए रखो पढ़ते रहना हम किसी कार्यवश एक दो घंटे के लिए जा रहे हैं तो वहां से वो गुरु लोग तो चले गए और बच्चों को जो है अवकाश मिल गया और अपनी अपनी खेलने की सामग्री लेकर के गेंद वेंद लेकर के निकल पड़े खेलने के लिए और प्रहलाद जी को बुलाने लगे कहा आओ भाई खेलो हमारे साथ प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों आओ तुम थोड़ी देर अब हमारी बात सुनो बोलो हमें कहां अवसर मिलता है तुम गुरु जी का पाठ पढ़ते रहते हो आज हमसे भी अपना हृदय का पाठ सुनो हमारी बात सुनो तो प्रहलाद का तो सब गौरव मानते थे जब हम लोगों ने ये देख लिया प्रहलाद अग्नि में नहीं जले शस्त्र से नहीं कोई काट शस्त्र कोई नहीं काट सका इनको विष खाने विष देने से भी नहीं मरे तो सब सारे देश में ये बात फैल गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है कोई ये सिद्ध पुरुष है कोई योगी है हम्म, कोई देवता है प्रहलाद का गौरव मानते थे सब जब प्रहलाद ने कहा तुम हमारे पास आकर गए तो चुपचाप सब सहस्त्रों की संख्या में बालक प्रहलाद के सामने बैठ गए और प्रहलाद उनको उपदेश करते हैं चरित प्राग्यो धर्मान भागवता निगो मित्रों बचपन से ही भगवान का भजन करना सीखना चाहिए कुमार अवस्था से कहते हैं कि हमारा यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो हम कैसे संध्या बंदन कर सकते हैं अरे भागवतान करना भगवान का कीर्तन करना ध्यान करना इसमें यज्ञोपवीत की क्या आवश्यकता विरुद्ध जब होगा तब हो जाए भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए भगवान का ध्यान भजन करना ये मनुष्य का कर्तव्य है यथा ही पुरुष से विष्णु प्रारोप धर्म भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करना ये मनुष्य के लिए युक्त है उचित है यथा अगण यथावत क्यों यदि सर्वभूतान प्रिय आत्मेश्वरा सुहृद भगवान हमारे आत्मा हैं वो ईश्वर हैं हमारे सुहृद हैं और ये संसार के सुख तो प्रारब्धवश अपने आप ही मिलते हैं इनके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए सुखम इंद्रिय कम दैत्या देह योगे न देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम यत्नत ये संसार के जो सुख हैं वो हमको बिना प्रयत्न के मिलेंगे कैसे मिलेंगे प्रहलाद जी कहते हैं भैया दुख कैसे मिल जाता है दुख के लिए हम प्रयत्न करते हैं दुख के लिए तो प्रयत्न नहीं करते तो क्यों मिल जाता है कोई देने वाला है ना तो जब दुख देने वाला है तो सुख देने वाला भी है जैसे हमको दुख मिलता है तैसे सुख भी मिलेगा समय पर उसके लिए <clears throat> उसके लिए क्यों प्रयत्न करते कहते ने हापुर से कुछ लोग गए ब्रज में यात्रा करने अच्छे बड़े रईस थे मथुरा में आए सब लोग और प्रातःकाल वो उठते हैं तो उनकी न हाथ उठता है न पैर उठता है न वाणी से बोला जाता है एक साथ बक्सा था तो ये एक साथ उन पर जो आपत्ति आई दुख आया उसकी तो उनको कल्पना भी नहीं थी उसके लिए कोई प्रयत्न भी नहीं था <laughs> पर ये जैसे दुख बिना प्रारब्धवश जैसे दुख प्राप्त हो गया उसको देने वाला है ना कोई कर्मानुसार तो जैसे बिना प्रयत्न के दुख मिल जाता है समय पर ऐसे हमको बिना प्रयत्न के सुख भी मिलेगा तो उसके लिए क्यों प्रयत्न करना जो संसार के सुख के लिए प्रयत्न करता है वो अपनी आयु को व्यर्थ व्यतीत करता है तत्व यते तो कुशल क्षेमाय भयनाशता इसलिए <clears throat> भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए किसी व्यक्ति को सौ वर्ष की आयु हुई है तो अब हिसाब लगाओ कितनी रही उसके पास पचास वर्ष तो उसके सोने के लगाएंगे साधन करने के लिए तो पचासी वर्ष रहेंगे आधी सोने की रखनी अच्छा उस पचास वर्ष में भी बीस वर्ष वैसे पढ़ने लिखने में निकल जाते पचास में से बीस और निकलेंगे तो तीस रहेंगे और 80 वर्ष के बाद जो बीस वर्ष हैं वो बेकार होते हैं उसमें भी साधन नहीं कर सकते तो केवल 10 वर्ष पास न रह गए युवा अवस्था के वो उस समय जो है इतने दोष आ जाते हैं दुरा दुरापूरेण कामेन मोहेन च बनीयसा फिर ऐसी कामना आ जाती है काम क्रोध बढ़ जाते हैं इच्छाएं बढ़ जाती हैं हाँ। वो अवस्था ऐसे ही निकल जाती को कुमान पुमान सप्तमात्मान भजित इंद्रिया प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों इस समय जब तुम्हारा मन तुम्हारे पास है और जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा और जब स्त्री आ जाएगी तो तुम्हारा मन तुम्हारे पास नहीं रहेगा फिर उधर खिंच जाएगा इसलिए अभी से भजन करना सीखो कौन द्वार तृष्णाम विसर्जे प्राणे भी यही सीखा अर्थ की तृष्णा बताओ कौन छोड़ सकता है पैसा इतना प्यारा होता है कि हम्म, तो इसके लिए मृत्यु स्वीकार अर्था बहिष्ठरा प्राण ये तो बाहर के प्राण है एक लड़का अपने पिता की छाती पर चढ़ गया था लाभ तिजौरी की हाँ, नहीं तेरा हाँ, हम कलाकार हैं उसने अपने कोट के बटन बटन खोल दिए कि ले हाथ दे पर चाबी नहीं दे कोर्थ कृष्णाम विसृजे ये तो प्राणों से भी अधिक प्यारा है क्रीणा तस्वी प्रेष्ठ तस्कर सेवको गणित ये तस्कर चोर और सेवक और वाणिक प्राणों प्राणों की हानि स्वीकार करके चोर डांकू जाते हैं अपने प्राणों को हथेली पर रख करके अरे पकड़े गए कहीं मारे गए परंतु प्राणों को हथेली पर रख करके पैसे के लिए जाते हैं देश व्यापार करने के लिए जाता है समुद्र की यात्रा करता है सेवक हाँ सारे जीवन सेवा करता है पैसे के लिए तो अर्थ की कृष्णा ये अर्थ ही बड़ा विलक्षण सोलवर्ष कृष्णाम विसर्जे तो धन में जब तुम्हारा मन लग जाएगा तो फिर भगवान का भजन कैसे करो प्रहलाद जी कहते काशी में एक बार गए तो एक दंडी स्वामी उनको सुना रहे महाराज परक्वाबाद के पास गंगा के उस पार एक महात्मा रहते थे विरक्त थे वो मर गए जब उनकी सुरक्षी आदत हो गई उनका कमंडल वहां कुटिया में रहता था तो एक सर पा करके वो कमंडल के चारों ओर आके बैठ जाए महात्मा लोग हटाए दे फिर आगे बैठ जाया कर तो उसमें देखा कमंडल में कुछ था लोगों ने कहा ये महात्मा का कमंडल है कमंडल में इतना राग तो होगा नहीं कि सांप आकर के बन के इसमें आ जाए फिर किसी महात्मा ने कमंडल लिया और उसमें पैंदी जो लगी होती है ना पैंदी चिपकाई जाती है तो उसने पैंदी को तोड़ा तो उसमें तीन असर्थी निकली वो महात्मा आए तो और कुछ पास में ना था न मालूम कब काम दिल जाए तो उन्होंने तीन की उसमें चिपका तब उनका कहते हैं उन असरतियों का सामान लाया गया भंडारा किया गया तब उस सर्प ने वहां आना छोड़ा तो ये मन जहां पहुंच जाए हाँ, सर्प बन के पहुंच जाएगा सर्प बन कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्य मंत्रां स्नेह स्नेहशत शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त और जब तुम्हारी स्त्री आ जाएगी वो दया का पाप उस पर तुम्हारा मन टिक जाएगा उसमें उसके ऊपर तुम दया करोगे उसके एकांत के रहन सहन का जो सुख है उसका तुम स्मरण करोगे और रुचिरांश मंत्राण उसकी एकांत की मीठी मीठी सलाह जो है वो तुम्हारे चित्त को आकर्षित कर देगी वो साधारण बात नहीं होती यहां बताया रुचिराश मंत्राण वो मंत्र होते हैं वो स्त्री की जो एकांत की बात है एक पंडित कहता था कि ये यहां मंत्र शब्द क्यों दिया है कि जैसे मंत्र बड़े भयंकर सर्प को भी वश में कर लेता है ऐसे वो एकांत में स्त्री उन शब्दों से उस व्यक्ति को अपने बस में कर लेती है इसलिए यहां मंत्र शब्द दिया है साधारण शब्द नहीं है संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्राण उनके द्वारा वो तुम्हारा चित्त उस स्त्री के बस में हो जाएगा वो कह देगी कि जब मैं सब अपने घर वालों को छोड़ करके मैंने अपने माता पिता छोड़ करके जब तुम्हारे साथ आई तो तुमको भी तो ऐसा ही करना चाहिए हो सबको बोलो कभी तुम पुत्रों का स्मरण करोगे कभी लड़कियों का स्मरण करोगे किसी लड़की को विदा करना है किसी को बुलाना है ग्रहान मनो की ओर उपरित सदांश थे जो घर कमरे हैं जब गए तो बड़ी बढ़िया का कोई फर्नीचर ले आए कुर्सी बढ़िया ले आए कोई चीज ले आए सारा सजा रखा है अब उनमें उन उनमें मन लग, लग जाएगा तो फिर वहां से मन को हटा के भगवान का भजन कैसे करोगे दस भृत्य वरदान तो इसलिए मित्रों बचपन से ही भगवान का भजन करना सीखो कुटुंब पोषाय व्यन्न जायो न बुद्ध देवतम विहतम प्रमत्ता कुटुंब का पालन पोषण करते हुए मनुष्य की आयु व्यतीत हो जाती है से कुछ पता नहीं उसको कभी वैराग्य नहीं होता और कहते हैं ये साधारण व्यक्तियों की बात नहीं है विद्वान अभ्युत्थम गनुजा कुटुम्बम उष्णन सलोकायन कल्पते वही ये विद्वानों की भी यही हालत है उन्हें वैराग्य नहीं होता ततो विदुरा परहित दैत्या दैत्य स्वयं विषयात्मक इन दैत्यों का संग छोड़ करके नारायण की शरण ग्रहण करो भगवान को प्रसन्न करना कोई कठिन नहीं है अरे वो सबकी आत्मा है स्वतः शुद्ध हैं ब्रह्मा से लेकर कबीर का पर्यंत सबके हृदय में विराजमान है